तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे ओ प्रेमी सज्जनों जिज्ञासा समाधान के क्रम में आज जो प्रश्न लिया जा रहा है वो कर्म फल से संबंधित है प्रश्न है कर्म फल की मात्रा क्या क्रिया की मात्रा पर निर्भर करती है जितना हमने कर्म किया उतनी मात्रा में हमें कर्म फल भी मिलता है कम किया तो कम फल मिलता है और अधिक किया तो अधिक मिलता है एक सामान्य सिद्धांत हम सब समझते हैं तो क्या कर्म फल की मात्रा क्रिया की मात्रा पर निर्भर करती है या उसकी गुणवत्ता पर गुणवत्ता का मतलब है उस कर्म की श्रेष्ठता अल्प श्रेष्ठता या दुष्टता या अधिक दुष्टता जो कर्म किया तो अच्छे कर्मों में भी कोई थोड़ा अच्छा होता है कोई अधिक अच्छा होता है कोई बहुत अच्छा होता है और बुरे कर्मों में भी कोई थोड़ा बुरा होता है कोई अधिक बुरा होता है और कोई बहुत अधिक बुरा होता है तो कर्मफल की मात्रा क्रिया की मात्रा पर निर्भर करती है या क्रिया की गुणवत्ता पर निर्भर करती है इसे दोनों दृष्टियों से हमें समझना होगा और तो दोनों बातें ठीक हैं यदि क्रिया की गुणवत्ता समान है यदि क्रिया की गुणवत्ता समान है तो क्रिया की मात्रा पर कर्मफल की मात्रा न्यूनाधिक होगी गुणवत्ता समान है कर्म समान है अच्छा है तो दो अच्छे कर्म समान कर्म किसी ने अधिक किया तो उसको अधिक फल मिलेगा किसने कम किया तो कम मिलेगा इसलिए कर्म फल की मात्रा कर्म की मात्रा पर निर्भर करती है ये भी हमें मानना होगा लेकिन साथ में कर्म की गुणवत्ता पर भी कर्म फल की मात्रा निर्भर करती है वो भी हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि एक कम अच्छा कार्य है अच्छा है लेकिन कम है और एक कर्म ऐसा है जो बहुत अच्छा है तो जो कम अच्छा कार्य है वो भी मान लीजिए एक घंटा किया गया एक बहुत अच्छा कार्य है वो एक घंटे किया गया कर्म की मात्रा तो समान मान के चल रहे हैं घंटे की दृष्टि से मैं समान मान के कह रहा हूं उसको तो काल की दृष्टि से तो दोनों कर्म एक एक घंटे किए गए लेकिन कर्म की गुणवत्ता भिन्न भिन्न है एक ने कुछ वस्त्रादि धोए सफाई की एक घंटे तक सेवा की एक ने बहुत आपातकाल में एक घंटे सेवा की उसकी बहुत गंदगी थी उल्टी थी मलमूत्र था उसको साफ किया नाजुक हालत थी उस समय एक घंटे का सहयोग किया तो वो अधिक गुणवत्ता वाला कार्य है उसकी जान बचाने वाला अधिक कठिनाई से हटाने वाला कार्य है और एक कम कठिनाई से हटाने वाला कार्य है तो हमने दूसरे व्यक्ति को दुख से दूर किया उसका दुख दूर किया उसकी बाधा पीड़ा हमने कम की दूर की तो एक कम गुणवत्ता वाला कार्य है वो भी एक घंटे किया गया और एक अधिक गुणवत्ता वाला कार्य है वो भी एक घंटे किया गया तो दोनों के कर्म फल में भिन्नता होगी दूसरी दृष्टि से देखें जैसे एक अध्यापक प्राथमिक कक्षाओं में आठवीं दसवीं में पढ़ा रहा है एक घंटा और एक जना पढ़ा रहा है पीएचडी वालों को एमएससी एमए वालों को बहुत ऊंची कक्षाओं में एक घंटा पढ़ा रहा है वैज्ञानिकों को एक घंटा पढ़ा रहा है कोई वैज्ञानिकों में भी जो श्रेष्ठ वैज्ञानिक है वो उस स्थिति में एक घंटा दे रहा है अपना तो एक एक घंटा दोनों पढ़ाते हुए भी दोनों की योग्यता में और पढ़ाई जाने वाली चीज में अंतर होता है एक घंटा बच्चे को हम क ख ग सिखा रहे हैं एक दो तीन गिनती सिखा रहे हैं और एक घंटा किसी ने गणित के कठिन सूत्रों को समझाने के लिए लगाया दोनों ने एक एक घंटा पढ़ा है लेकिन दोनों की गुणवत्ता में भिन्नता है तो कर्म की मात्रा में भिन्नता होने पर भी कर्म फल में भिन्नता आएगी न्यूनाधिक होगा और कर्म की गुणवत्ता में भी न्यूनाधिकता होगी तब भी कर्म फल में भिन्नता आएगी किस कर्म से कितनी भिन्नता आएगी ये निर्धारण हम भले ही ना कर सकें किंतु श्रेष्ठ कर्म अधिक उत्तम कर्म से फल अधिक मिलता है ये बात हो गई ये तो मैंने सामान्य रूप से पृष्ठभूमि में आपको बताया इतने तक का आधार लेकर के जो प्रश्न रखा गया है लेकिन ये जो पहले के दो वाक्य हैं प्रश्नकर्ता के उसकी पृष्ठभूमि कुछ और भी है जिस जिसको अब आगे देखते हैं तो ये पूछते हैं जैसे एक ने जिसकी आय एक हजार रूपये प्रति माह है उसने पंद्रह रूपये का दान किया और दूसरे ने जिसकी आय दो लाख रुपए प्रति माह है उसने एक हजार रुपए का दान किया एक ने पंद्रह रुपए का दान किया और दूसरे ने एक हजार रुपए का दान किया तो किसका दान अधिक है स्पष्ट है जिसने एक हजार रुपए दान दिया तो पीछे जो हम समझ करके आए कर्म की मात्रा में अधिकता होने पर फल की भी अधिकता होती है दान कर्म किया समान व्यक्ति को दिया समान योग्य व्यक्तियों को वो दान दिया एक ने पंद्रह रुपए दिए और दूसरे ने एक हजार रुपए दिए तो जिसने एक हजार दिए उसने अधिक दान दिया कर्म की मात्रा अधिक हुई तो उसका फल भी अधिक होना चाहिए लेकिन इनका प्रश्न इस रूप में है इन्होंने इसको प्रतिशत में बदला जो महीने में एक हजार रुपए कमा रहा है और उसने पंद्रह रुपए का दान दिया तो उसने अपने आय का प्रति मास की आय का कितने प्रतिशत दान दिया तो उसने डेढ़ प्रतिशत का दान दिया एक हजार में पंद्रह रुपए वो दे रहा है तो डेढ़ प्रतिशत का दान किया और दूसरे व्यक्ति ने जो दो लाख रुपए कमाता है उसने एक हजार रुपए का दान दिया तो ये एक हजार दो लाख का आधा प्रतिशत है एक लाख में एक हजार देता तो एक प्रतिशत दो लाख कमाता है प्रतिमास और एक हजार का दान दिया तो वो हुआ आधा प्रतिशत तो एक हजार कमाता था पंद्रह रुपए दान देता था तो डेढ़ प्रतिशत हुआ दूसरे ने दूसरा दो लाख प्रतिमास कमाता है एक हजार दान दिया तो आधा प्रतिशत दान हुआ अब यहां पर हमें तुलना करनी है कई बार ये घटना सुनाई जाती है महाभारत के संदर्भ में या और भी संदर्भों में कि अनेकों से दान लेते हैं बड़ा बड़ा दान चाहिए होता है बड़े कार्यों के लिए तो वहां एक कोई बुढ़िया माता आई और उसने अपनी गांठ को खोल करके जो कुछ था एक दो रुपए ऐसे कुछ कहानी बताते हैं वो उसने अपना खोल करके फटे कपड़े नंगे पांव बिल्कुल निर्धन और एक या दो रुपए जो थे वो उसने दान कर दिए कि मेरे पास इतने ही है मैं अपना सारा धन आपको दे रहा दे रही हूं और दूसरा व्यक्ति हजारों या लाखों भी दे रहा है तो जिन्होंने दान लिया वो उस रूप में प्रस्तुत करते हैं वहां वो अभिभूत हो जाते हैं कि इसने तो अपना सारा कुछ दे दिया और दूसरे के पास में करोड़ों अरबों रुपए हैं और उन्होंने हजारों लाखों दे दिया तो सारा तो नहीं दिया उन्होंने सर्वस्व तो नहीं दिया इसने अपना सर्वस्व दे दिया दो रुपए थे दो रुपए दे दिए तो एक विवेचना चलती है एक भावना बनती है इन कथाओं के माध्यम से और ये प्राय प्रस्तुत किया जाता है कि जिसने अपना सारा दे दिया उसका दान बढ़ा दोनों में से किसका दान बढ़ा एक ने करोड़ों रुपए में से एक लाख दे दिया इसके पास दो ही रुपए थे और दो ही दे दिए तो किसका दान बढ़ा किसका त्याग बढ़ा तो जिसने दो रुपए दिए उसका त्याग बड़ा उसका दान बढ़ा अब इसको कर्म फल की दृष्टि से भी विचार कीजिए कि किसको अधिक फल मिलेगा इनका प्रश्न इस रूप में है कि कर्म की मात्रा के आधार पर कर्म फल की मात्रा भिन्न होती है या नहीं तो हम पहले समझ के आए कि कर्म की मात्रा से फल की मात्रा भी भिन्न हो जाती है बढ़ जाएगी कर्म बढ़ेगा तो इधर दो रुपए दिए उसने दो हजार दिए तो जिसने दो हजार दिए उसको अधिक फल मिलना चाहिए पर अब एक नई बात आ गई गुणवत्ता की और गुणवत्ता किस रूप में प्रतिशत के रूप में इसने अपने दो रुपए दिए यानी कितने प्रतिशत दान कितने प्रतिशत का दान दिया शत प्रतिशत का दान कर दिया दूसरे ने कम प्रतिशत दिया तो गुणवत्ता बढ़ गई इसकी प्रश्नकर्ता के मन में यह है कि हम कितने प्रतिशत दान देते हैं इस पर दान की गुणवत्ता घटती बढ़ती है प्रश्नकर्ता के मन में यह है पहले तो बिंदु ये विचारने का है क्या प्रतिशत के घटने बढ़ने से गुणवत्ता बढ़नी चाहिए पहले एक बिंदु मैंने आपके सामने रखा था कि कर्म की गुणवत्ता के बढ़ने से फल की गुणवत्ता बढ़ती है उसके कुछ उदाहरण दिए और बहुत से उदाहरण देखे जा सकते हैं लेकिन गुणवत्ता का बढ़ना जो प्रतिशत के रूप में यहां प्रस्तुत किया गया क्या प्रतिशत के बढ़ने से गुणवत्ता बढ़ जाती है ये एक विचार का बिंदु हुआ ये बुढ़िया माता वाला उदाहरण थोड़ा एक तरफ रखते हैं प्रश्नकर्ता ने जो रखा है उस पर थोड़ी देर विचार करते हैं एक हजार रूपये प्रतिमास कमाता है पंद्रह रूपये दान दिया डेढ़ प्रतिशत दान दिया दो लाख रुपए प्रतिमास कमाता है एक हजार का दान दिया आधा प्रतिशत दान दिया तो प्रतिशत की दृष्टि से क्या डेढ़ प्रतिशत देने वाले के गुणवत्ता बढ़ गई और आधा प्रतिशत देने वाले की गुणवत्ता घट गई जिसको दान दिया वो समान ही रखना समान कार्य में या समान व्यक्ति को दिया उसमें भिन्नता हमें नहीं लानी है यदि विशिष्ट कार्य के लिए दान दिया है तो पुण्य अधिक बनेगा सामान्य कार्य के लिए दिया है तो कम पुण्य बनेगा तो वो हमें भिन्न नहीं रखना है वो समान रखना है सब कुछ समान है केवल प्रतिशत में भिन्नता है और उनकी आय में भिन्नता होने से प्रतिशत में भिन्नता है तो इस विषय में यह समझना चाहिए कि प्रतिशत के भेद से गुणवत्ता में भिन्नता नहीं आती है प्रतिशत के भेद से गुणवत्ता में भिन्नता नहीं आती है अभी की परिस्थिति में हम क्या देख रहे हैं दोनों ने अपनी पुण्य की कमाई में से दिया है दोनों धर्मात्मा हैं दोनों ने मेहनत से अब कमाया हो और उसमें से ये दे रहे हैं भावना को जब हम इसमें साथ में ले आते हैं तो हम सोचते हैं कि इसने अधिक प्रतिशत दिया अधिक त्याग किया लेकिन कर्म के यथा योग्य व्यवहार को भी देखें कि जो दो लाख रुपए प्रतिमास कमा रहा है है मेहनत का ईमानदारी का तो वो क्यों कमा पा रहा है दो लाख और एक व्यक्ति एक हजार ही कमा पा रहा है मेहनत से ही कमा रहा है वो भी जिसने पुरुषार्थ करके दो लाख रुपए कमाने की स्थिति बनाई अपनी उसका क्या दोष है कि हम उसकी दान की गुणवत्ता को कम समझें क्यों समझें वर्तमान के पुरुषार्थ में भिन्नता है और उसको और पीछे ले जाएं तो पिछले कर्मों के अनुसार शरीर बुद्धि आदि भिन्न भिन्न मिले हैं मेहनत भी दोनों ने की है बहुत लेकिन एक की शारीरिक और बौद्धिक क्षमता कम है तो उसको कम वेतन मिलता है एक की शारीरिक और बौद्धिक क्षमता अधिक है वो अधिक उपयोगी कार्य करता है उसको बड़ा वेतन मिलता है हो न्याय पूर्वक ही इसमें अन्याय की बात बीच में नहीं लाना है अभी न्यायपूर्वक ही है तो ये जो शारीरिक और बौद्धिक स्थिति में भिन्नता है भिन्न भिन्न परिवारों में जन्म लिया भिन्न भिन्न माता पिता मिले भिन्न भिन्न परिवेश मिला वो क्यों मिला था उसमें पिछला जन्म कारण है पिछले कर्म कारण है तो यदि किसी ने पिछले कर्म के अनुसार अच्छी बुद्धि अच्छा शरीर पाया और वो अभी पुरुषार्थ करके अधिक धन प्राप्त कर रहा है धर्म पूर्वक तो उसका ऐसा क्या दोष है जिससे हम उसके कर्म की गुणवत्ता को कम समझें भावना में आकर के जब हम प्रतिशत को महत्व दे देंगे तो इसका मतलब है हम उसके कर्म को उसके पुरुषार्थ को उचित मान नहीं दे रहे हैं जिसने अच्छी बुद्धि और शरीर पाया ये क्या उसका दोष है जिसने अधिक पुरुषार्थ करके अधिक वेतन पाया वो पा रहा है ये क्या उसका कोई दोष है जिससे कि उसकी गुणवत्ता कम कर रहे हैं हम तो यदि पुरुषार्थ पूर्वक धर्म पूर्वक धन कमाया जा रहा है एक अधिक कमा रहा है एक कम कमा रहा है तो भी जिसने जितना दान दिया उतना ही उसका फल मिलना चाहिए केवल प्रतिशत के आधार पर गुणवत्ता नहीं बदली जा सकती प्रतिशत भिन्न भिन्न है वो ना देखा जा करके मात्रा केवल देखी जाएगी इसने कितना दिया कितना परोपकार किया उतना उसको पुण्य मिलेगा यदि हम प्रतिशत के आधार पर ही सोचना चाहते हैं कोई सोचे नहीं प्रतिशत भी देखने योग्य है तो इसको उल्टा करके देखिए पाप के संदर्भ में हम किसी व्यक्ति से धन छीनते हैं जो चोरी करता है उसने सामने वाले का कितना प्रतिशत लिया वो जिनसे लिया वो भी मेहनत का किया हुआ ये मान के चलना और उसके पास कितना धन है उसने जो चोरी से लिया किसी के पास एक करोड़ रुपया है और उसने एक हजार रुपए की चोरी की तो उसके कुल धन का वो कितने प्रतिशत होगा आधा प्रतिशत और किसी के पास में एक हजार रुपया है और उसने एक हजार की चोरी कर ली दूसरे की अब दो हजार रूपये हो गए उसने कितने प्रतिशत चोरी है उस चोरी की उसके पास में सौ प्रतिशत की क्या उसको अधिक दंड मिलना चाहिए प्रतिशत के आधार पर अगर हम सोचें उनके पास में कितना धन है पहले से वो एक अलग विषय है दोनों ने एक एक हजार रुपए की चोरी की है समान स्तर के हैं धन को छोड़ के बाकी स्तर समान है तो समान ही दंड रहेगा इसी तरह से परोपकार या दान में भी समान ही रहेगा प्रतिशत से अंतर नहीं आएगा पर प्रतिशत के साथ में इनकी दूसरी बातें और जुड़ी हुई हैं जो हम आगे देखेंगे अब वो बुढ़िया माता की बात भी साथ में जोड़ लें जिसमें हमने कहा कि इसने तो सर्वस्व का दान कर दिया वहां भी पिछले आधार पे ही सोचना होगा किसने कितना दिया उस पर पुण्य निर्भर करेगा कर्माशय लेकिन भावना तो बहुत प्रबल है माता की उसे सायकाल के भोजन का भी पता नहीं है लेकिन फिर भी उसने दे दिया दूसरे को भोजन की निश्चितता है भोजन मिलेगा ही उसको उपलब्ध है कोई चिंता नहीं है महीने भर तक का साल भर तक का सब तैयार है उसके पास अंतर है भावना में भावना में अंतर है तो संस्कारों पे अंतर पड़ेगा कर्म करने से कर्म का फल मिलता है एक तो ये कर्माशय के रूप में और एक कर्म करते समय मन पर संस्कार पड़ता है अच्छा बुरा संस्कार अच्छे कर्मों का अच्छा संस्कार पड़ता है तो ये बुढ़िया माता ने जिसने अपना सर्वस्व दे दिया दो रुपया उसका कर्म का फल तो उतना ही बनना चाहिए दो रुपए जितना किंतु ये जो त्याग की भावना थी सर्वस्व को देने की भावना थी इसमें बहुत अंतर है उस दो रुपए देने के बाद में उसे जितना कष्ट सहना पड़ा या बाधा आएगी वो और देने से पहले जो उसने जितना त्याग किया वो भावना उसकी प्रबल है जिसकी हम प्रशंसा करते हैं तो उससे संस्कार प्रबल पड़ेगा तो संस्कार के स्तर पर भिन्नता होनी चाहिए लेकिन कर्म के फल के विषय में भिन्नता नहीं होनी चाहिए अब इस प्रश्न को और आगे लेते हैं क्योंकि प्रश्नकर्ता का प्रश्न का पृष्ठभूमि कुछ और थी ये ऊपर की कुछ बातें थी वो पहले सामान्य बात रखी फिर कुछ थोड़ा प्रतिशत को लाए लेकिन उसके साथ एक और बात जुड़ी हुई थी जिसको कि अब हम समझने की स्थिति में आएंगे आगे ये लिखते हैं प्रतिशत का कहने के बाद में उससे जुड़ी हुई बात क्या लिखते हैं लेकिन पहले ने पूर्ण धर्म पूर्वक कमाया पहला कौन पंद्रह रुपए वाला जो एक हजार रुपए प्रति मास कमाता है पंद्रह रुपए दान दिया डेढ़ प्रतिशत हुआ वो कैसा है उसने पूर्ण धर्म पूर्वक कमाया था अब ये एक नई बात जुड़ रही है ध्यान देना प्रतिशत वाला विषय हमने विचार किया अब ये नई बात जुड़ रही है कि कमाने वाले ने वो धन कैसे कमाया तो पहले ने पूर्ण धर्म पूर्वक कमाया और दूसरे ने अधर्म पूर्वक अशुद्ध पूर्वक अनुचित पूर्वक उसमें वो गलत कार्य भी उसने किए हैं दूसरा कौन जो दो लाख रुपए प्रतिमास कमा रहा है उसने उसमें कुछ गलत कार्य भी किए हैं अधर्म पूर्वक भी है अब प्रतिशत को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए अब केवल ये देखिए कि दो व्यक्ति एक ने अधर्म पूर्वक कमाया एक ने धर्म पूर्वक कमाया अधर्म पूर्वक वाले ने चूंकि अधिक कमा लिया इसलिए वो अधिक दान कर रहा है और धर्म पूर्वक जिसने कमाया वो अधिक नहीं कमा पा रहा है इसने थोड़ा दान दिया अब दोनों में से किसको अधिक फल मिलेगा ये एक विचारणीय बिंदु है <coughs> इस बात की विवेचना से पूर्व इसका निर्णय हम लें उससे पूर्व कुछ बातें ध्यान देने की हैं जब हम ये कहते हैं कि इसने अधर्म पूर्वक कमाया तो वहां ये भी हमें स्पष्ट करना होगा कि कितना अधर्म पूर्वक था एक है कि शत प्रतिशत अधर्म पूर्वक था दो लाख का दो लाख ही अधर्म पूर्वक है एक है कि एक लाख अधर्म पूर्वक है एक लाख धर्म पूर्वक है जितना कमाया क्या उसका पूरा अधर्म पूर्वक है और जिसको हम धर्म पूर्वक कह रहे हैं उसका क्या पूरा धर्म पूर्वक है मान के चलते हैं कि जो एक हजार रूपये प्रतिमास कमाया जिसने उसका पूरा धर्म धर्म पूर्वक है और दूसरे ने जो कमाया बहुत ही दुष्ट व्यक्तियों को, को छोड़ दें तो बाकी जगह पे मिश्रित रहता है जिनको हम अधर्म पूर्वक कहते हैं उसमें कुछ भाग अधर्म पूर्वक होता है कुछ धर्म पूर्वक होता है तो इस बिंदु को हमें ध्यान रखना होगा कि हम किस स्तर के व्यक्ति की बात कर रहे हैं मान लीजिए उसका एक लाख तो धर्म पूर्वक ही है और एक लाख उसका अधर्म पूर्वक है और अब उसने दो हजार रुपए का दान एक हजार रुपए का दान कर दिया हम क्या माने कि इसका क्या पचास प्रतिशत अशुद्ध है और पचास प्रतिशत शुद्ध है उसकी कमाई के अनुसार एक तो ये दृष्टि दूसरे उसमें ये सोचते हैं कि ये जो एक हजार दिया ये उसने जो गलत कमाया था उसमें से दिया जो अतिरिक्त कमाया उसमें से एक हजार दिया तो पूरा अशुद्ध माना जाए इनके प्रतिशत की दृष्टि से एक इस विषय में जटिलता है हम पूरा प्रतिशत का निर्धारण करके फिर करें इस बिंदु को भी थोड़ी देर छोड़ दें लेकिन विषय की स्पष्टता के लिए पहले हम यूं समझ लें कि दो लाख रुपया पूरा का पूरा अधर्म का है और एक एक हजार रुपया पूरा का पूरा धर्म पूर्वक ऐसा स्थिति मान लें तो जिसने धर्म पूर्वक कमाया जितना दान दिया उसका तो पुण्य उतना हो ही जाएगा उसको अलग रखें अब बात है कि उसका पूरा पैसा अधर्म का है और उसने उसमें से दान दिया है पुण्य कार्य किया कोई अच्छा कार्य किया इसको पुण्य का फल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए एक पक्ष तो ये आता है कि ये जो उसने अधर्म पूर्वक धन कमाया ये इसका था ही नहीं बाकी उसका पुरुषार्थ तो है नहीं उसमें ये तो दूसरे का अन्याय पूर्वक लिया गया धन है तो जो उसका है ही नहीं उसको दान किया तो उसका कुछ भी फल नहीं होना चाहिए क्योंकि दान या त्याग का फल तो तब होगा ना जो अपना त्याग करता है सत्व का त्याग त्याग कहलाता है दान कहलाता है दूसरे का लेकर के दूसरे का चुरा करके दे दिया वो दान दान ही नहीं कहलाएगा दान या त्याग क्या होता है अपने का हम अपना स्वामित्व छोड़ करके दूसरे को उसका स्वामी बना देते हैं हमारे पास एक फल है अभी हम स्वामी हैं हम खा सकते हैं उसको हमने दूसरे को दे दिया कि आप लीजिए अब उस फल का स्वामी हमने दूसरे को बना दिया वो खा सकते हैं वो चाहे किसी को दे भी सकते हैं अब हमारा स्वामित्व उस पर नहीं रहा तो दान या त्याग में सर्वत्र ये बात रहती है कि जिसमें हम अपना स्वामित्व छोड़ करके दूसरे का स्वामित्व स्वीकार कर लेते हैं स्व स्वत्व का त्याग करना ये दान कहलाता है और दूसरे के स्वत्व को स्वामित्व को स्वीकार कर लेना कि अब ये उसका हो गया तो जिसका धन पूरा अधर्म पूर्वक है वो उसका है ही नहीं उसका स्वामित्व ही नहीं है इसलिए यदि वो दान करता है तो वो दान ही नहीं कहलाएगा ठीक है ये बात आ गई समझ में दूसरा कहता है कि जिसने गलत ढंग से कमाया उसके गलत ढंग से कमाने का दंड उसको मिलेगा मिल जाए उसको वो दंड उसका अलग है और अब उसने जो दान किया है उस दान का पुण्य भी उसको मिल जाए गलत कमाया उसका दंड उसको मिल जाए पूरा और जितना उसने दान दिया है उसका पुण्य भी मिल जाए ये भी न्याय संगत है वो एक उदाहरण यहां प्रस्तुत करेगा कि दो व्यक्ति हैं तुलना करें दोनों ने दो दो लाख रुपए गलत ढंग से कमाए हैं एक ने उस दो लाख रुपए को पूरा उपभोग कर लिया अपने काम में ले लिया और एक ने उस दो लाख में से पचास हजार दान कर दिए तो उन दोनों में कोई अंतर करें या ना करें यदि पहले वाला सिद्धांत हम माने कि जिसने दिया गलत ढंग से कमा के वो उसका था ही नहीं तो वास्तव में उसने दिया ही नहीं तो देने का कोई पुण्य उसको नहीं मिलना चाहिए यदि ऐसा माने तो दोनों में कोई अंतर नहीं आना चाहिए उसने दो लाख गलत ढंग से कमा के अपने काम में ले लिए उपभोग कर लिया दूसरे ने डेढ़ लाख का उपभोग कर लिया पचास हजार दान दे दिए दान तो का तो कोई पुण्य मिलेगा नहीं क्योंकि उसका अपना नहीं है लेकिन गलत ढंग से तो दोनों ने दो दो लाख कमाया है इससे दंड तो समान ही मिलेगा गलत ढंग से दो लाख रुपया कमाया तो दंड तो समान ही मिलेगा दोनों को और इधर पचास हजार का दान दिया वो दान कहलाएगा नहीं क्योंकि उसने अपना दान नहीं किया तो यदि ऐसा मानेंगे तो दोनों को हम समान रूप से देख रहे हैं दोनों में कोई भिन्नता ही नहीं हुई फिर तो लेकिन दोनों में भिन्नता है वो भिन्नता हम कैसे करेंगे या तो हम ये कर लें कि जिसने पचास हजार का दान दे दिया अगर हम उसका पुण्य ना माने तो फिर जो गलत ढंग से कमाया उसको भी दो लाख ना मान करके डेढ़ लाख समझा जाए या तो उसका महादंड कम कर दें एक ने दो लाख कमाया दो लाख भोग लिया तो उसको दो लाख का दंड मिला पाप लगा एक ने दो लाख गलत ढंग से कमाया पचास हजार दे दिया दान कर दिया दान देने का कोई पुण्य नहीं मिला उसको तो उसको दंड कितने का मिलना चाहिए डेढ़ लाख का या तो हम ये अंतर कर दें डेढ़ लाख का अंतर कर दें एक को डेढ़ का एक को दो का तब तो न्याय हो जाएगा भिन्नता हो जाएगी अथवा दोनों ने दो दो लाख रुपए गलत ढंग से कमाए उसका दंड तो समान मिले और एक ने पचास हजार का दान दे दिया उसका उसको पुण्य मिल जाए ये भी एक तरीका है ये भी न्याय संगत है दूसरा वाला तरीका ज्यादा ठीक लगता है कि किसने कितना गलत ढंग से कमाया वो एक उसका कर्म हो गया उतना पाप उसको लग गया उतना पाप लग गया उसको और अब चूंकि उसको दंड इसी बात का मिला क्योंकि उसने गलत ढंग से कमाया वो धन उसने ले लिया दूसरे से यदि आप उससे उसका दो लाख सारा छीन लेते हो वापस तो कितना दंड देंगे और एक ने दो लाख कमाया और दो लाख का उपभोग भी कर लिया उपभोग भी कर लिया उसको कितना दंड दोगे अंतर माना जाएगा दो दो लाख रुपए गलत ढंग से कमाए एक ने उपभोग कर लिया अब उसको हमें दंड देना है और एक दूसरा है कि उसने दो लाख चुराए दो लाख रुपए उसके पास पकड़े गए और वो ले लिए अब उसको दंड देना है दोनों में भिन्नता होगी ना तो अगर हम ये माने कि दो लाख रुपए गलत ढंग से कमाए उसका दंड उसको मिल जाएगा लेकिन गलत ढंग से कमाया हुआ अब उसका अपना हो चुका है उस दो लाख की पूर्ति उसने करनी पड़ी उसका मकान चला गया जो भी हुआ चुकाना पड़ेगा वो और दंड भी अतिरिक्त मिल गया वो सब कर लिया अब जो उसने गलत ढंग से कमाया वो तो अब उसी का ही है ना और उसमें से वो दान कर रहा है तो उतना पुण्य भी उसका समझ लेना चाहिए जब हम इस स्तर पे सोच करके और फिर पिछले प्रश्न को देखें कि एक ने एक हजार रुपये दान दिया गलत ढंग से कमाए हुए में से पूरा गलत ढंग से कमाया हुआ है और एक ने पंद्रह रुपए दान दिया धर्मपूर्वक कमा करके तो किसको पुण्य अधिक मिलना चाहिए तो अगर हम गुणवत्ता की दृष्टि से जैसे पहले सोचते थे तो हमारे मन क्या बनेगा जिसने धर्म पूर्वक कमाया है उसको पुण्य मिलना चाहिए जिसने अधर्म पूर्वक कमा के दिया है एक हजार रुपया उसको तो क्या पुण्य मिलना चाहिए लेकिन इस पृष्ठभूमि में जब हम देखेंगे तो जिसने एक हजार रुपये भी दान दिया है भले ही अधर्म पूर्वक कमाए हुए का दान दिया है पुण्य तो समान ही मिलना चाहिए समान मतलब मात्रा की दृष्टि से भिन्नता है तो भिन्न ही रहेगा एक हजार दान दिया है तो एक हजार का पुण्य बनेगा पंद्रह रुपए दान दिया है तो पंद्रह का पुण्य बनेगा किंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि हम गलत ढंग से खूब कमाएं और फिर अधिक दान दे दें और ये सोचे कि हम बहुत पुण्य कमाएंगे इसको लाभ की दृष्टि से देखा जाए तो लाभ की दृष्टि से तो ठीक नहीं है जो व्यक्ति एक हजार कमा के पंद्रह रुपए दे रहा है वो लाभ में है वास्तव में और जो एक लाख रुपए गलत ढंग से कमा करके एक हजार दान दे रहा है दो लाख कमा के एक हजार दान दे रहा है वो लाभ में नहीं है भले ही उसको एक हजार का पुण्य अधिक मिल रहा है उसको पंद्रह का पुण्य मिला इसको एक हजार का मिला इसमें भिन्नता होते हुए भी भिन्नता को स्वीकार करते हुए भी कुल लाभ हानि की दृष्टि से वो अधिक लाभदायक है जिसने पूरा पुण्य से कमा के दान किया क्योंकि उसको कोई दंड तो मिलना नहीं है जो पंद्रह रुपए का पुण्य मिलना है वो पूरा पुण्य ही मिलना है उसको उसको कोई दंड नहीं मिलने वाला है कोई और हानि नहीं होने वाली है लेकिन दूसरे व्यक्ति ने जिसने दो लाख रुपए गलत ढंग से कमाए हैं उसका तो उसको पाप लगेगा ही वो तो दंड मिलेगा ही और एक हजार रुपए दान दिए भले ही उसको पंद्रह की अपेक्षा अधिक पुण्य मिल रहा हो लेकिन हानि भी तो बहुत ज्यादा है कुल मिलाकर के किसको लाभ हुआ पंद्रह वाले को इस दृष्टि से तो पंद्रह वाला ठीक है लेकिन यदि हम केवल ये देखना चाहें कि किसको अधिक पुण्य मिलेगा तो फिर अधिक युक्ति संगत ये है कि जिसने एक हजार का दान दिया है उसको पुण्य अधिक मिलेगा लेकिन जैसे ही हम ये कहते हैं कि उसको पुण्य अधिक मिलेगा तो व्यक्ति के मन में वितर्क उठ जाता है ये कैसे हो सकता है नहीं इसके साथ में ये बात भी जुड़ी हुई है कि उसको पाप भी तो अधिक लग रहा है दंड भी तो अधिक मिलेगा उसको इतना सारा दंड मिलेगा उसको इतने सारे दंड में थोड़ा सा पुण्य भी मिल जाएगा कोई लाभदायक नहीं है पुण्य अधिक मिल रहा है इसलिए वो करणीय हो कि खूब गलत ढंग से कमाओ और खूब दान दे दो ये करणीय हो ऐसा तो नहीं कह सकते ऐसा सिद्ध नहीं होता है लेकिन जहां तक हमें व्यवस्था न्याय संगतता देखनी है तो उत्तर यही आएगा जिसने अधिक दिया है उसको अधिक पुण्य होगा जिसने कम दिया है उसको कम पुण्य होगा साथ में दंड वाली व्यवस्था भी हम समझ सकते हैं तो कर्म फल की मात्रा क्रिया की मात्रा पर निर्भर करती है ये स्वीकार्य है और उसकी गुणवत्ता पर भी निर्भर करती है ये भी स्वीकार्य है और यदि किसी ने गलत ढंग से कमा के दिया है तो गलत ढंग से कमाया ये एक पृथक कर्म हुआ उसका पाप दंड उसको मिलेगा लगेगा और जो दान दिया ये एक अलग कर्म है उसका पुण्य जितना होना है वो होगा जिसने जितना दिया जिस स्तर पे दिया जिस गुणवत्ता से दिया वैसा होगा प्रतिशत वाली जो बात है वो प्रतिशत के आधार पर आकलन करना ठीक नहीं है प्रतिशत के आधार पर यदि हम आकलन करेंगे और भिन्नता देखनी है तो वो संस्कारों के स्तर पर देखेंगे किसने अपनी आय का 25 प्रतिशत दान देता है 25 प्रतिशत दान दिया 50 प्रतिशत दान दिया दूसरा एक प्रतिशत दे रहा है तो इस त्याग की भावना में भिन्नता रहेगी उसमें अवश्य अंतर रहेगा लेकिन पुण्य की दृष्टि से उसमें कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए तो मैं जैसा इस विषय में समझ पाता हूं वो मैंने आपके सामने रखा है आप में से किन्हीं को इस विषय में पूछना हो जो मैंने बात रखी है उसमें प्रश्न उठ रहे हों तो उसको पूछ सकते हैं संतोष जी होता है कि कोई व्यक्ति गलत गलत ढंग से दो लाख रुपये रहा है और पचास हजार ग्राम देता है तो उसको जरूरत भी डेढ़ लाख के मिलेगा यदि इनका प्रश्न यह है कि दो लाख गलत ढंग से कमाए पचास हजार दान कर दिया तो उसको दंड डेढ़ लाख का मिलेगा ये मैंने उस पक्ष में कहा यदि हम पचास हजार के दान का पुण्य नहीं स्वीकार करते हैं जब हम ये मानते हैं कि पचास हजार का जो दान किया ये दान है ही नहीं क्योंकि वो धन उसका था ही नहीं तो दूसरों का था दान तो अपने धन का होता है यदि हम उस पचास हजार के दान का पुण्य स्वीकार नहीं करते हैं तो हमें उसके पाप में भी डेढ़ का ही मानना चाहिए क्योंकि उसने डेढ़ का ही उपभोग किया है एक ने दो लाख कमाए और दो लाख का उपभोग कर लिया तो वहां भिन्नता दंड में भिन्नता माननी पड़ेगी ना क्योंकि दान का तो हम पुण्य मान ही नहीं रहे उस पक्ष में ये बात थी लेकिन यदि हम दूसरा पक्ष स्वीकार करते हैं जो कि अधिक संगत सरल लगता है न्याय संगत है कि दोनों ने दो दो लाख रुपए कमाए गलत ढंग से उसका दंड दोनों को समान मिलेगा एक ने पचास हजार दान कर दिए उसका उसको पुण्य भी मिल जाएगा अब ठीक रविशंकर जी एक हजार रुपये दो लाख रुपये और फिर उसकी जो छीन गए वो अपने एक हजार रुपये तो छिन गया नहीं वो तो दूसरी दृष्टि से देखिए उसको उस तरह से मैंने नहीं कहा अभी उसको अलग रखिए हाँ सत्यवती और हम्म। वो मैंने बात रखी नहीं पूरी कि इसको हम भिन्नता करें या ना करें एक जैसा करें यानी बात यह है कि किसी के पास दो लाख रुपए हैं उससे एक हजार चुरा लिए और एक के पास में एक हजार है और एक हजार चुरा लिए तो अब पाप किसमें अधिक लगेगा तो उसमें जिसको कष्ट अधिक हो गया है दिनहीन अवस्था में है उसको अगर कष्ट दिया जाता है तो अधिक कष्टदायक होता है वहां तो उसका पाप अधिक लगेगा जब मैंने उसका प्रतिशत बदल दिया था कि जिसने कमाया है गलत ढंग से वो उसने उसका कितना प्रतिशत है अपने कुल आय का उसके अपने का उसके पास पहले से दो करोड़ है और दो लाख रुपए उसने गलत ढंग से और कमा लिए अपने में से अपने ही प्रतिशत को देखें उसके तो उसने अपनी कुल आय में से कितना प्रति कितना प्रतिशत गलत कमाया दो प्रतिशत और किसी के पास दो लाख रुपए थे और दो लाख रुपए उसने गलत ढंग से और कमा लिए तो उसने कितने प्रतिशत गलत कमाया सौ प्रतिशत या पचास प्रतिशत का हो इतना तो है ही पचास प्रतिशत ये उसका समान कमा लिया ठीक है तो कम, दोनों ने दो दो लाख रुपए गलत ढंग से कमाए अब प्रतिशत के आधार पर हम भिन्नता तो नहीं करेंगे ना ये दोनों ने दो दो लाख रुपए गलत ढंग से कमाए तो समान दंड मिलेगा ना मैं वो उदाहरण इसलिए दे रहा था कि प्रतिशत की भिन्नता से हम वहां पाप की भिन्नता नहीं स्वीकार करते जिसने जितना गलत ढंग से कमाया है उतना दंड मिलेगा देखो दूसरे ढंग से देखो अगर आप वहां की स्थिति में देखो एक जगह दो करोड़ रुपए रखें एक जगह एक करोड़ रुपए रखें एक ने दो करोड़ में से एक लाख रुपए ले लिए एक ने एक करोड़ में से एक लाख ले लिए चुरा लिए यहां दो करोड़ थे और एक लाख चुरा लिए कितने प्रतिशत हुआ आधा प्रतिशत चुराया वहां एक करोड़ रखे हुए थे और एक लाख चुरा लिया एक प्रतिशत हुआ दोनों ने एक एक लाख रुपया चुराया वो गरीब और धनवान वाली भिन्नता को हटा दो क्योंकि वहां दूसरी बातें जुड़ी हुई हैं दो जगह रुपए रखे थे एक जगह दो करोड़ एक जगह एक करोड़ दो अलग अलग व्यक्तियों ने एक एक लाख रुपए चुरा लिए प्रतिशत में भिन्नता है ना तो क्या दंड भिन्न भिन्न होगा उनको जिसने एक करोड़ में से एक लाख कमाया उसको चुराया उसको दुगना दंड होगा और जिसने दो करोड़ में से एक लाख चुराया उसको उससे आधा दंड होगा क्या ये स्वीकार्य है न्याय संगत है नहीं तो जैसे चुराने में गलत कार्य करने में प्रतिशत की भिन्नता होने पर भी दंड की भिन्नता हमें स्वीकार्य नहीं होती भाई एक एक लाख आपने चुराया एक एक लाख का आपको दंड मिलेगा ऐसे ही दान देते समय भी हमने कितने प्रतिशत दिया ये ना देख करके कितनी मात्रा में दिया उसके आधार पे ही वो न्याय संगत बनेगा नहीं तो असंगत हो जाएगा इस दृष्टि से मैंने उदाहरण दिया था हाँ, श्रीवास्तव जी इनके गुणवत्ता में क्या फर्क जैसे एक लाख दान दिया उसका जो कर्मफल मिलता है और एक लाख रुपया चुराया उसका जो कर्मफल मिलता है तो उनकी गुणवत्ता में क्या फर्क देखिए अलग अलग चीजों को जो ले रहे हैं पाप और पुण्य की दृष्टि से ठीक है एक लाख रुपए गलत ढंग से लिए एक लाख रुपए पुण्य दे दिया दान दे दिया दोनों जगह किससे लिया कहा लिया उसमें भिन्नता होती है हमने किसको दिया वो किस कार्य में लगा उसके आधार पर पुण्य की न्यूनाधिकता होती है चुराया तो एक ही जगह से है दो जनों ने एक एक लाख लेकिन एक ने कम योग्य काम में दिया एक ने ऊंचे अच्छे स्तर के काम में दिया तो उनके पुण्य में भिन्नता हो जाएगी पर अगर समान लिया और समान दिया ऐसा माना जाए तो लेने का जितना पाप है और देने का जितना पुण्य है उसमें लेने का पाप अधिक माना जाएगा ज्यादा से ज्यादा आप करो तो समान मान सकते हो लेकिन जो हमने गलत ढंग से लिया उसमें दंड वाली बात अधिक जुड़ जाती है देने से भी पुण्य बनता है लेकिन ये अगर किसी ने ऐसा किया एक लाख गलत ढंग से कमाया और एक लाख पुण्य दे दिया अच्छे काम में दे दिया और वो सोचे कि मैंने पुण्य कर लिया तो कुछ भी लाभ नहीं हुआ उसको बल्कि अपना समय और गंवा दिया बराबर भी मान लेंगे इधर उतना पाप लग गया और उधर उतना पुण्य लगा इधर दुख भोगना पड़ेगा उधर सुख भोग लिया वो बराबर हो गया और इस काम को करने में मेहनत और लग गई ऐसा सौदा किया यहां सौ रुपए कमाए और यहां ऐसा बेचा कि सौ रुपए का घाटा कर लिया तो सौ रुपए कमा लिए सौ रुपए घाटा कर लिया कुल मिलाकर के क्या हुआ ये करने योग्य तो नहीं होगा कोई सोचेगा कि मैंने सौ रुपए तो कमा लिए सौ रुपए का घाटा भी तो कर लिया और इस सब व्यापार में समय अलग चला गया व्यर्थ तो इसलिए ये करणीय में नहीं जाएगा कि हम इधर पाप से कमा लें पहले एक लाख और फिर एक लाख दान कर दें सोचें कि हमने पुण्य कमा लिया है वो पुण्य कुछ नहीं है कोई लाभ नहीं है ऐसे कर्म का पूछिए तो तो हाँ ये प्रश्न अभी नहीं उठाते हैं ये एक बड़ा प्रश्न है कि पाप के किए हुए का फल जो भोगने वाला है लेने वाला है वो क्या वो भी पाप का भागी बनेगा इसकी बहुत विस्तृत चर्चा है संक्षेप से जो उत्तर मैं दू आपको जैसा मेरे को समझ में आया हुआ है वो पाप का भागी नहीं बनेगा हाँ स्तुति तो जी तो एक बात करी विवेचना करते हुए जिन्होंने दो लाख दो लाख रुपए कमाता है जो क्या उनकी बुद्धि शरीर ऐसा मिला हुआ है जिससे वो दो लाख रुपए कमा रहे क्या उनका दोष था वो तो दो लाख रुपए जो कमा रहे हैं उसकी योग्यता है क्या वो उनकी उनका दोष था कि वो दो लाख रुपए कमा रहे ऐसा कहा वहां इस रूप में ना देख करके कि दो लाख रुपए कमा रहा था उसकी बुद्धि अच्छी थी शरीर अच्छा था ये उनका दोष है ऐसा ना देख करके इतनी अच्छी बुद्धि शरीर होते हुए भी लाख रूपये कमाते हुए भी थोड़ा ही दान दिया ये दोष माना जाना चाहिए उसने जो उसको जो अच्छा शरीर बुद्धि मिली वो दोष है ऐसा तो मैंने नहीं कहा तो प्रश्न किया था कि क्या उसको हम दोष कह सकते हैं अर्थात नहीं कह सकते दोष ठीक है अब है कि वो अधिक कमा रहा है तो भी कम प्रतिशत दान कर रहा है क्या इसको हम दोष माने कम देना तो इसको तो दोष नहीं कह सकते ये कर्म की स्वतंत्रता है आप देते हैं ठीक है नहीं देते हैं ठीक है देंगे तो पुण्य बनेगा नहीं देंगे कम देंगे तो कम पुण्य बनेगा इसको अपने आप में हम दोष नहीं कह सकते यदि कोई नियम पहले से निर्धारित हो कि 10 प्रतिशत तो आपको देना ही होगा जैसे कि कर का है टैक्स का है इस तरह का कोई निर्धारित नियम हो उससे यदि वो कम देता है तब तो दोष माना जाएगा लेकिन उस बिंदु को हटा करके हम यहां बात करेंगे कि केवल उसकी मात्रा में न्यूनाधिकता होने से एक ने पचास प्रतिशत दिया एक ने चालीस प्रतिशत दिया उसने भी बहुत दिया है चालीस प्रतिशत उसने भी बहुत दिया है पचास प्रतिशत लेकिन एक ने चालीस प्रतिशत दिया एक ने पचास प्रतिशत दिया क्या इस प्रतिशत के भेद से उनके पाप और पुण्य में पुण्य में अंतर होगा वो नहीं होना चाहिए आप जहां बात कर रहे हो कोई सीमा यदि है तो भिन्नता हम देख सकते हैं नहीं तो प्रतिशत मात्र से भिन्नता नहीं आनी चाहिए वो युक्ति संगत नहीं है संस्कार के स्तर पर भेद होता है वो बात आपके सामने मैंने रखी है सुरेश जी संतोष जी तो और पचास हजार दान दिया तो उसका पचास हजार का कम दंड मिलेगा कम दंड मिलेगा कम हो गया पचास हजार है पचास हजार इतनी प्रतिशत कम हो गया दंड में फिर से बोलिए दो लाख रूपये अनुचित ढंग कमाया और पचास हजार दान में दिया तो उसकी दंड में भी कम हुआ है हुआ या नहीं पचास हजार यदि यदि पचास हजार के दान का पुण्य भी हम स्वीकार कर रहे हैं तो पाप दो लाख का ही लगेगा उसको दंड दो लाख का ही लगेगा वहां डेढ़ लाख नहीं होगा क्योंकि पचास के दान का भी हम पुण्य स्वीकार कर रहे हैं दो लाख का पाप कर्म किया कमाया उसका दो लाख का दंड भी मिलेगा उसको ये जो डेढ़ लाख वाली बात वो कब थी जब ये पचास हजार के दान को दान नहीं स्वीकार कर रहे हैं जो सोचते नहीं इसको तो दान ही नहीं मानेंगे जब दान ही नहीं मान रहे हैं इसको तो उधर जो दो लाख लिया उसका दंड भी उसको नहीं दे सकते उसको डेढ़ ही देना पड़ेगा क्योंकि जिसने दो लाख लिया और दो लाख का दो लाख भोग लिया उसमें और दूसरे में कुछ अंतर करेंगे या नहीं भिन्नता करनी चाहिए या नहीं वो क्या भिन्नता करेंगे तो यदि दान पचास हजार दिया है उसका पुण्य हम स्वीकार कर रहे हैं जिस पक्ष में तो दंड दो लाख का मिलेगा अब दंड तो दो लाख का ले लिया पचास हजार का दान दे दिया तो फायदा हुआ या हानि हुई लाभ हुआ या हानि हुई हानि हुई हानि अधिक हुई ना तो वो करणीय नहीं है यहां उसको पचास हजार का पुण्य मिल रहा है इससे ये अर्थ ना लगाएं कि वो करणीय है करणीय नहीं कहा जा रहा है उसको लेकिन अगर हमें पैमाना देखना है तो पचास हजार का पुण्य तो स्वीकार करना ही पड़ेगा उसका करणीय नहीं है एक व्यक्ति है जो पूरा ईमानदारी से कमाता है और एक भी पैसा दान नहीं देता है और एक ने डेढ़ लाख का पाप कमा लिया पचास हजार का पुण्य कमा लिया तो क्या फायदा हुआ उसको हानि ही ज्यादा हुई ना इससे तो वो अच्छा है जो एक भी पैसा दान नहीं देता लेकिन मेहनत से कमा रहा है उसको चूंकि हानि नहीं है उसको डेढ़ लाख की हानि भी नहीं है पचास हजार का उसको पुण्य भले ही ना मिले लेकिन डेढ़ लाख की हानि भी तो नहीं है उसको पाप भी तो नहीं है इसलिए दोनों की तुलना में वो ज्यादा अच्छा है पर इसका यह भी मतलब नहीं है कि हम वो जो दे रहा है उसका दान का पुण्य न स्वीकार करें वो भी स्वीकार करना चाहिए युक्ति संगत लगता है नंदन जी नंदन जी अच्छा जी इसी प्रसंग में जब व्यक्ति पचास हजार दान दे रहा है परंतु पुण्य का स्वीकार तो नहीं स्वीकार नहीं कर रहा है तो उसको डेढ़ लाख का ही दंड मिलता है परंतु जो दो लाख जो भी कमाया बहुत तो, अं, प्रजा से उत्पीड़न करके कमाया है दान जहां दे रहे हैं सामान्य रूप से संस्था में दे रहे हैं जहां मतलब दूसरे ज्यादा आवश्यकता अपेक्षा नहीं होती हम्म। तो ठीक है मैं दान दे दिया तो मुझे पुण्य दान ही स्वीकार नहीं कर मतलब दान के रूप में नहीं दिया समझ तो डेढ़ लाख का फिर कैसे हो देखिए आपने जो बात रखी उसमें पाप की गुणवत्ता में भिन्नता और पुण्य की गुणवत्ता में भिन्नता देख करके आपने बात रखी है वो भिन्नता करेंगे तो भिन्नता आएगी देख सामान्य मान करके कथन है एक ही चीज में भिन्नता देखनी है बाकी चीजों में नहीं इनका कहना है कि दो लाख रुपया उसने बहुत ज्यादा शोषण करके बहुत ज्यादा दूसरों को कष्ट दे दे करके और फिर कमाया ठीक है एक तो जैसे होता है बैंक से किसी ने गड़बड़ करके दो लाख कमा लिए और उसमें किसी को सीधे सीधे तो कष्ट नहीं दिया गया बैंक के पास बहुत पैसे हैं घाटा भी हुआ तो सरकार का है यूं दुख नहीं दिया और एक ने पीड़ित कर करके लोगों से लिया गरीबों से लिया उसके वेतन में से लिया वहां उनको बहुत कष्ट हो गया उस दो लाख के लेने से ऐसे तो जो कष्ट दिया जा रहा है दूसरों को उससे कष्ट हो रहा है वहां तो पाप अधिक लगना ही है और पुण्य में उसने कहीं हल्के फुलके पुण्य में दे दिया दान को तो पुण्य तो कम ही होगा पाप और पुण्य दोनों की गुणवत्ता के आधार पर पाप और पुण्य लगेगा ये बात पहले स्वीकार की है मात्रा में भी और गुणवत्ता में भी अब यदि पाप की गुणवत्ता अधिक है गुणवत्ता मतलब पाप वो भयंकर पाप है अब उससे उसने दो लाख रुपए कमाए और दान दे दिए सामान्य जगह पे जिससे कोई विशेष लाभ भी नहीं है तो ऐसी स्थिति में तो वो और भी घाटे का सौदा हो गया वो आपकी बात ठीक है दिलीप जी हम्म। तो दान देने पर उसको सम्मान की प्राप्ति होती है तो उससे वो का उपभोग करता है तो गलत लोग कमा करके दान देने पर उसको सुख मिल रहा है सम्मान तो वो व्यर्थ तो वो हम्म। इनका प्रश्न ये है कि एक लाख रुपए किसी ने गलत ढंग से कमाए और एक लाख दान भी कर दिए तो कोई फायदा नहीं हुआ जैसा मैंने एक पक्ष रखा था वो पूरा पक्ष नहीं था दोनों में समान रहे तो समय व्यर्थ चला गया तो इनका कहना है कि जो दान दिया दान देने से जो यश मिला सम्मान हुआ पद प्रतिष्ठा मिली ये तो अतिरिक्त मिल गया ना तो जैसे दान देने पे ये अतिरिक्त मिला ऐसे पाप करने पे भी अतिरिक्त मिलता है अपमान है घृणा है तिरस्कार है उपेक्षा है ये भी तो मिलती है वो भी वहां पर है जितना गलत कार्य किया एक लाख गलत ढंग से लिया तो एक लाख तो का तो दंड मिलना ही है अतिरिक्त भी मिलता है कई गुना दंड अधिक मिलता है जैसे पुण्य भी कई गुना अधिक मिलता है तो जो लाभ इधर अतिरिक्त देख रहे हो वहां वहां अतिरिक्त हानि भी है वो दोनों तरफ है लेकिन कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति में वो करना ही नहीं चाहिए हमें दान देना है इसलिए हम गलत कार्य करेंगे ये सोच करके कभी नहीं चलना चाहिए कभी नहीं करना चाहिए वो ऐसे

जनता को खबर दी और किसी के पास अन्न पड़ा है एक आदमी से अन्न ला के उनको खिला रहा है कर तो छीना छपकी रहा है जबरदस्ती कर रहा है उसका क्या पाप है दोनों बातें लगेंगी कि उसका पाप भी लगेगा और पुण्य भी लगेगा इसमें आपने भिन्नता दूसरे ढंग से दिखाई जैसे शक्तिनंदन जी ने दिखाई थी लेने में पाप को अधिक बताया था आपने जो उदाहरण दिया उसमें देने में पुण्य अधिक है कि वहां अकाल पड़ा हुआ है वो मरने वाले हैं उनका जीवन संकट में है तो हमने कितना दिया वो कितना उपयोगी हो रहा है उस पर भी हमारा पुण्य निर्भर करता है जैसे सामान्य स्थिति में हमने किसी को एक लीटर पानी दे दिया एक बोतल एक गिलास पानी दे दिया कोई उसका विशेष महत्व नहीं है थोड़ा दस पंद्रह रुपए मूल्य है थोड़ा सा है लेकिन एक रेगिस्तान में पड़ा हुआ है प्यासा है घंटों प्यासा है प्राण कंठ पे आए हुए हैं मर जाएगा घंटे दो घंटे पानी नहीं मिला तो और वहां हमने उसको एक बोतल पानी दे दिया इसका पुण्य अधिक मिलेगा इसीलिए वो योग दर्शन में व्यास भाष्य में बात आई है कि दीनहीन दुखी रुग्ण बच्चे वृद्ध ऐसे अश्वित इनके प्रति किया गया अपकार शीघ्र फल देता है और वो अधिक दंडनीय है और इसके विपरीत इनके प्रति किया गया उपकार उसके जीवन को बचा रहे हैं उसकी कीमत बढ़ जाती है वहां उसी वस्तु की कीमत किस स्थिति में है वहां बढ़ जाती है इससे भी अंतर पड़ता है तो हम उस इन भिन्नताओं को अभी ना लें हमारी हमारी जो मुख्य चर्चा है उसमें अगर हम इन भिन्नताओं को भी अभी जोड़ देंगे तो वो जटिल हो जाएगा इनके कारण भिन्नताएं होती हैं वो भी हमें मानना है ये उसकी गुणवत्ता में ऐसी भिन्नता होती है तो इस विषय को अभी इतना ही रखते हैं बंद करते